और इस्माइल को और यसा को और यूनुस को और लूत को भी और हर एक को हमने तमाम दुनिया पर फजीलत अदा की